असो माँ ज्योतिर्गमे अस्तो माँ सतगमे मृत्योर माँ अमृतम गमे उपनिषद की इस प्रार्थना में मनुष्य की विकसित चेतना के अनुरूप क्या कुछ जोड़ा जा सकता है नरेंद्र सत्व यह प्रार्थना अपूर्व है पृथ्वी के किसी शास्त्र में किसी समय में किसी काल में इतनी अपूर्व प्रार्थना को जन्म नहीं मिला इसमें पूरब की पूरी मनीषा सन्निहित है जैसे हजारों गुलाब से बूंद भर इत्र निकले ऐसी यह प्रार्थना है प्रार्थना ही नहीं है समस्त उपनिषदों का सार है इसमें कुछ भी जोड़ना कठिन है लेकिन फिर भी मनुष्य निरंतर गतिमान है यह अजस्त्र धारा है मनुष्य की चेतना की जिसका कोई पारावार नहीं यह रोज नित नए आयाम छूती है नित नए आकाश बहुत बार ऐसा लगता है आ गया पड़ाओ और फिर आगे और भी उज्जवलतर शिखर दिखाई पड़ने लगते हैं लगता है ऐसे कि आ गई मंजिल लेकिन हर मंजिल बस सराय ही सिद्ध होती है और यह शुभ भी है नहीं तो मनुष्य जिए ही कैसे विकास है तो जीवन है निरंतर विकास है तो निरंतर गति है गत्यात्मकता जीवन है इसलिए इस प्रार्थना में यूं तो कुछ जोड़ा नहीं जा सकता ऐसी बिल्कुल भरी पूरी है और फिर भी कुछ जोड़ा जा सकता है नानक के जीवन में ऐसा उल्लेख है कि वो अपनी अनंत यात्राओं में बहुत यात्राएं की उन्होंने भारत में तो की ही भारत के बाहर भी की काबा और मक्का तक भी गए वे एक ऐसे गांव के पास पहुंचे जो फकीरों की ही बस्ती थी सूफियों का गांव था और उन सूफी दरवेशों का जो प्रमुख था उसे खबर मिली कि भारत से एक फकीर आया है पहुंचा हुआ सिद्ध है गांव के बाहर ठहरा हुआ है गांव के बाहर ही सरहद पर एक कुएं के पास एक वृक्ष की छाया में रात नानक ने और उनके शिष्य मर्दाना ने विश्राम किया था नानक चलते थे तो मर्दाना सदा उनके साथ चलता था मर्दाना उनका एकमात्र संगी साथी था नानक गाते गीत मर्दाना धुन बजाता नानक गुनगुनाते मर्दाना ताल देता नानक प्रभु के गुणों के गीत उतारते हैं मर्दाना स्वर साधका मर्दाना के बिना नानक अधूरे से थे गीत तो उनके पास थे मर्दाना जैसे उनकी बांसुरी था सुबह सुबह नानक गा रहे थे सूरज उग रहा था और मर्दाना ताल दे रहा था तभी उस फकीर का संदेश वाहक आया उस फकीर ने सांकेतिक रूप से सूफियों का ढंग अलमस्तों का ढंग अलहड़ों का ढंग एक स्वर्ण पात्र में दूध भर कर भेज दिया था इतना भर दिया था दूध कि एक बूंद भी उसमें अब और ना समा सके जो लेकर आया था पात्र उसे भी बड़े संभाल के लाना पड़ा था क्योंकि अब झलका तब झलका इतना भरा था ऐसा लबालब था पात्र लाके उसने नानक को भेंट दिया और कहा मेरे सदगुरु ने भेजा है भेंट भेजी नानक ने एक क्षण पात्र को देखा मर्दाना सुबह सुबह ही नानक के चरणों पर लाके कुछ फूल चढ़ाया था उन्होंने एक फूल उठाया और उस दूध से भरे पात्र में तैरा दिया फूल का कोई वजन ही न था तैर गया दूध पर एक बूंद दूध भी बाहर न गिरा और कहा नानक ने ले जाओ वापस मैंने भेंट में कुछ जोड़ दिया तुम न समझ सकोगे तुम्हारा गुरु समझ लेगा और गुरु समझा भागा हुआ आया नानक के चरणों में गिरा और कहा कि आप मेहमान बने मैंने पात्र भेजा था भर के ये कहने कि अब और फकीरों की इस बस्ती में जरूरत नहीं ये बस्ती फकीरों से लबालब है ये मस्तों की ही बस्ती है अब आप यहां किस लिए आए हैं लेकिन आपने गजब कर दिया आपने एक फूल ठहरा दिया ये तो मैंने सोचा भी न था इसकी तो कल्पना भी न की थी कि फूल तैर सकता है क्योंकि फूल कुछ डूबेगा नहीं ऊपर ही ऊपर रहा रहा होगा हल्का फुल्का फूल टेसू का फूल कि चांदनी का फूल डूबा ही नहीं तो पात्र से दूध के गिरने का सवाल ही ना उठा समझ गया आपका संदेश कि आप आए हैं बस्ती में फूल की तरह समा जाएंगे आए स्वागत है बस्ती में कितने ही फकीर हों आपके लिए जगह है फूल ने खबर दे दी यह सूत्र यूं तो लबालब है यह पात्र यूं तो दूध से भरा है इसमें एक बूंद जोड़ने की गुंजाइश नहीं लेकिन फूल तैराया जा सकता है और जरूर तैराना चाहिए तैराते ही रहना चाहिए उपनिषद मरने नहीं चाहिए तब तो उपनिषद तो उपनिषद लिखे गए अन्यथा एक उपनिषद से बात पूरी हो गई थी एक छांदोग उपनिषद में सब आ जाता एक कठोपनिषद में क्या बचता है और सब आ गया एक छोटे से उपनिषद ईशावास्य में जिसको कि पोस्ट कार्ड पर छापा जा सकता है सब उपनिषद आ गए सब वेद आ गए सब पुराण आ गए लेकिन उपनिषद तो उपनिषद लिखे जाते रहे तैराने वाले फूल पर फूल तैराते चले गए यूं ही जीवन गतिमान रहता है नहीं तो ठहर जाए सड़ जाए जहां पानी रुका वहां गंदा हुआ जहां बहता रहा वहां निर्मल रहा बहता रहे ये पानी भी इसलिए तुमसे कहता हूं इस सूत्र का पहला चरण है तमसो मां ज्योतिर्गमे हे प्रभु प्रभु को सीधा सीधा उल्लेख नहीं किया वह प्यारी बात है क्योंकि शब्द में जो आजा है वह तो परमात्मा नहीं है उसे अन कहा छोड़ दिया है उसे समझो उसे कहो मत इसलिए सीधा सीधा प्रभु का कोई उल्लेख नहीं मगर उसकी उपस्थिति का एहसास है क्योंकि ये प्रार्थना है जहां प्रार्थना है वहां प्रभु की उपस्थिति है सच्ची प्रार्थना में प्रभु को कहना नहीं होता प्रार्थना काफी होती है प्रार्थना का धुआं धूप प्रार्थना की ज्योति जिस तरफ उठने लगती है जिस आकाश की तरफ जो ऊर्धगवान करने लगती है वही इशारा है उसका इशारा भर होता है इसलिए तुम कोष्टक में समझना हे प्रभु प्रत्यक्ष नहीं है प्रकट नहीं है कहा नहीं है मगर समझना जरूर क्योंकि बिना उसके बात बनेगी नहीं सूत्र अधूरा है बिना उसके सूफियों ने ईश्वर को सौ नाम दिए लेकिन गिनाए केवल निन्यानवे सौमा कहा नहीं वही असली नाम है तुम जब सूफियों के फक, फकीरों के अलमस्तों के ईश्वर के नामों की गणना पढ़ोगे तो बहुत चौंकोगे ऊपर तो लिखा होता है परमात्मा के सौ नाम और अगर तुमने गिनती न की तो तुम्हें पता ही नहीं चलेगा क्योंकि निन्यानवे हैं कि सौ कैसे पता चलेगा गिनोगे तो बहुत चौंकोगे गिनोगे तो निन्यानबे पाओगे सौ कभी नहीं निन्यानबे कहे हैं सोमा असली है जो कहा वो तो सिर्फ इशारा है जो नहीं कहा वही असली निन्यानबे से उसी की तरफ इशारा किया है सौमे की तरफ मगर अन कहे को भी गिनती में गिना है सौ ऊपर तो लिखा होता है सौ नाम परमात्मा के पाओगे निन्यानबे ऐसा ही कहा नहीं है छिपा है सत्य को पंक्तियों के बीच में पढ़ना होता है जहां पृष्ठ खाली होता है लकीरों में नहीं तमसोमा ज्योतिर्घ में हे प्रभु कोष्टक लगा लेना मुझे अंधकार से प्रकाश की ओर ले चल कहा तो इतना ही है कि मुझे अंधकार से प्रकाश की ओर ले चल मगर किससे कहा किसी से तो कहना ही होगा नहीं तो सूत्र बेमानी हो जाएगा इसका कुछ अर्थ ना रह जाएगा मुझे ले चल अंधकार से आलोक की ओर मगर कौन ले चले इसलिए प्रार्थना में प्रभु है मगर उसकी उपस्थिति है अभिव्यक्ति नहीं अस्तो मां सदगमे दूसरा चरण है कि मुझे असत्य से सत्य की ओर ले चल और तीसरा चरण है मृत्योर्मा अमृतम गमे मुझे मृत्यु से अमृत की ओर ले चल तीनों सूत्र अलग अलग नहीं है एक दूसरे से गुथे हैं एक ही सत्य के तीन पहलू हैं यू समझो त्रिमूर्ति परमात्मा के जैसे तीन रूप ऐसे तीन सूत्र जैसे तीनों रूपों की प्रार्थना कर ली इसमें फूल तैराया जा सकता है और जरूर तैराना चाहिए ताकि उपनिषद जिंदा रहे उपनिषद मर ना जाए उपनिषद बढ़ता रहे बहता रहे गंगा चलती रहे सागर बनती रहे सागर उड़ता रहे बादल बनता रहे बादल बरसता रहे गंगा बनता रहे ये बहाव ही जीवन है इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि इस प्रार्थना से थोड़े और ऊपर उठा जा सकता है फूल तैराना होगा तो थोड़े ऊपर उठना होगा क्योंकि पात्र तो लबालब है भरपूर है एक बूंद जगह नहीं है थोड़ा ऊपर उठोगे तो ही बात बनेगी अंधकार तो होता ही नहीं अंधकार का कोई अस्तित्व ही नहीं होता इसलिए यह प्रार्थना कि हे प्रभु मुझे अंधकार से प्रकाश की ओर ले चल अंधकार से ही भरी हुई हो गई अंधकार तो होता ही नहीं अंधकार तो केवल अभाव है अंधकार की कोई स्थिति नहीं है अंधकार की कोई सत्ता नहीं है इसलिए तो तुम अगर अंधकार के साथ सीधा सीधा कुछ करना चाहो तो न कर पाओगे तुम्हारे कमरे में अंधकार भरा हो और मैं कहूं निकाल बाहर कर दो तो तुम लाख चिल्लाओ धक्के मारो तलवार निकाल लो म्यान से कि बंदूक चलाओ कुछ भी ना होगा कितने ही बड़े पहलवान क्यों ना हो और कितने ही दांव पेश क्यों ना लगाओ लेकिन हारोगे अंधकार को बाहर ना निकाल सकोगे टूटोगे खुद ही गिरोगे थककर और जब गिरोगे थककर तो तुम्हारा तर्क कहेगा कि शायद अंधकार मुझसे ज्यादा बलवान है यही तो तर्क की भ्रांति है तर्क बड़े भ्रांत निष्कर्ष दे देता है लड़े और हारे तो जाहिर है कि जिससे हारे वो शक्तिशाली होना चाहिए मगर ये भी हो सकता है ये तर्क को कभी नहीं सोचता कि वो हो ही ना इसलिए तुम्हारे अब जो है ही नहीं उससे लड़ोगे तो जीतोगे कैसे जीतना असंभव है अंधकार से घूसेबाजी करोगे तो खुद ही थक जाओगे थक के गिरोगे अंधकार का क्या बिगाड़ लोगे अंधकार होता तो जरूर कुछ बिगाड़ा जा सकता था धक्का मुक्की करके बाहर निकाल सकते थे शोरगुल मचा सकते थे हमला बोल सकते थे लेकिन तुम अंधकार का कुछ भी ना कर सकोगे क्योंकि अंधकार है ही नहीं तलवार चल जाएगी कटेगा नहीं बंदूक चल जाएगी मरेगा नहीं जहां का तहां रहेगा क्योंकि है ही नहीं होता तो कुछ ना कुछ कर लेते न तो अंधकार को हटा सकते हो अगर तुम हटा सकते होते तो बड़ी दिक्कतें होती भारत की सड़कों पर चलना मुश्किल हो जाता हर आदमी अपने घर का अंधकार सड़कों पर डाल देता जैसा कचरा डाल देते हो और यहां तो हर आदमी दार्शनिक मुल्ला नसरुद्दीन एक रास्ते से गुजर रहा था कि एक औरत ने पूरी की पूरी टोकरी कचरा कबाड़ से भरी ऊपर से उंडेल दी छज्जे के नीचे झांक के भी न देखा उस टोकरी में से एक टीन का डब्बा नसरुद्दीन के सिर पे लगा बड़े जोर से वो चिल्लाया कि अंधी है तू तुझे दिखाई नहीं पड़ता अरे स्त्री ने कहा कि यही कहो कि एक ही डब्बा लगा इसमें ईट भी थी पत्थर भी था सौभाग्य मानो अपना बड़े मिया धन्यवाद दो तो परमात्मा का ये खाली टीन का डब्बा बजा इसमें क्या बिगड़ गया इस देश में ज्ञानी तो सभी हैं क्या बात उसने भी पते की कही कि ये क्यों नहीं सोचते आशावादी बनो क्या निराशावादी बनते हो ये क्यों नहीं सोचते कि ईट भी लग सकती थी सिर खुल जाता अभी अस्पताल में होते सिर्फ टीन का डब्बा लगा धन्यवाद तो देते नहीं उल्टे मुझे आंख वाली को अंधा कहते हो और मैं भी क्या करूं अभी नई नई शादी होकर आई है पहले दिन मेरे पति ने कहा कि नीचे देख दाग के फेंकना सो मैं आधा घंटे खड़े रही जब आदमी निकला एक तब मैंने फेंका सो वो आदमी लड़ने आ गया और मैंने पति से कहा तुमने तो कहा था कि नीचे देख लेना कि आदमी है या नहीं तब फेंकना तो उसने अपना सिर पीट लिया मेरे पति ने और उसने कहा कि तू तो बेनी देखा फेंका था तो आज दूसरे दिन बिना फिर देखे फेंका तो आप झगड़ने को खड़े हो गए आखिर आदमी कुछ करे कि ना करे अंधेरा अगर फेंका जा सकता होता तो सड़कों पर ढेर लग जाते निकलना मुश्किल हो जाता तैरना पड़ता अंधेरे में से नावें खेनी पड़ती बड़ी मुश्किल हो जाती मगर अच्छा है कि अंधेरे को कोई बाहर नहीं फेंक सकता न अंधेरे को तुम बाहर फेंक सकते हो और न अंधेरे को भीतर ला सकते हो जैसे दोपहर में तुम्हें सोना है और तुम चाहो कि अंधेरा भीतर ले आए ताकि अच्छी नींद आए तो तुम अंधेरे को बटोर के भीतर भी नहीं ला सकते अंधेरे के साथ कुछ करना हो तो प्रकाश के साथ कुछ करना पड़ता है अंधेरा हटाना है तो प्रकाश जलाओ अंधेरा लाना है तो प्रकाश बुझाओ प्रकाश की सत्ता है अंधकार की कोई सत्ता नहीं ये प्रार्थना कहती है हे प्रभु मुझे अंधकार से आलोक की तरफ ले चलो अंधकार तो है ही नहीं क्यों परमात्मा को कष्ट देते हो इतना जान लो कि अंधकार नहीं है इतने जान लेने में ही प्रकाश हो जाता है इस बोध में ही प्रकाश हो जाता है इसलिए उपनिषदों से आगे कदम बढ़े बुद्ध ने परमात्मा की बात नहीं की परमात्मा को बीच में नहीं लाए क्यों उस बेचारे को परेशान करना बोध से ही बात हल हो जाती है तो प्रार्थना क्यों करनी जब अपने से ही बात हल हो जाती हो तो क्यों उसके द्वार पे दस्तक देनी हो तो ठीक न हो तो ठीक परमात्मा है या नहीं इसकी भी चर्चा बुद्ध ने नहीं की कोई पूछता था तो हंस के टाल जाते थे कह देते थे अव्याख्य मत पूछो न पूछो तो अच्छा कुछ भी कहना उचित नहीं है हो तो ठीक ना हो तो ठीक लेना देना क्या है काम की बात तो कुछ और है अंधकार नहीं है इस सत्य की प्रतीति चाहिए इसलिए मैं तुम्हें प्रार्थना नहीं सिखाता मैं तुम्हें ध्यान सिखाता हूं भेद इतना ही है प्रार्थना और ध्यान में इतना ही भेद है प्रार्थना सिर्फ हाथ जोड़ के निवेदन करती है प्रभु ऐसा करो फिर वो कितनी ही ऊंची प्रार्थना क्यों ना हो ये उपनिषद की ही प्रार्थना क्यों ना हो ये अद्भुत अपूर्व प्रार्थना ही क्यों ना हो प्रार्थना में मांग होती तू कुछ कर और ध्यान में स्वयं करने का बल होता है स्वयं करने का भाव होता है जब भी कोई समाज प्रार्थनाओं से भर जाता है तो आलसी हो जाता है हो ही जाएगा क्योंकि हर चीज के लिए प्रार्थना करने लगता है जब परम अनुभूतियों के लिए प्रार्थना की जा सकती है तो फिर छोटी मोटी चीजों के लिए क्यों नहीं कर लेनी जब परमात्मा अंधकार को मिटा के और प्रकाश दे सकता है असत्य को हटाकर और सत्य दे सकता है मृत्यु को हटाकर अमृत दे सकता है तो क्या गरीबी मिटा के अमीरी नहीं दे सकेगा बेकारी मिटा के कारोबार नहीं दे सकेगा जरूर दे सकेगा ये तो छोटी मोटी बातें हैं ये तो परमात्मा के नौकर चाकर देवी देवता कर देंगे ये तो काली माई और दुर्गा माई और संतोषी मैया और ढांडन सती ये तो कोई भी कर देगा ये तो नौकर चाकर नौकर चाकरों के नौकर चाकर कर देंगे ये छोटे मोटे काम और भी छोटे मोटे काम करने हो बुरे काम करवाने तो भूत प्रेत हैं वो कर देंगे किसी की जेब कटवानी है किसी को जहर दिलवाना है किसी की गर्दन कटवानी मगर कोई कर देगा हमें नहीं करना है प्रार्थना में एक बुनियादी भूल है कि ये टालती है दूसरे पर और इसका स्वाभाविक परिणाम आलस्य होता है मौसम था बरसात का भादों आधी रात का आश्रम श्रम से दूर था सुनो वहां की बात सुनो वहां की बात जलेबी दूध पराठे खा पी करके गुरु ले रहे थे खर्राठे आंख खुली तो चेले को आवाज लगाई क्यों रे छोरे बिजली अब तक नहीं बुझाई चेड़ा अड़ियल आलसी गुरु अजगरानंद कहने लगा कि मान्यवर आंखें कर लो बंद आंखें कर लो बंद समस्या स्वयं सुलझेगी मुंह ढककर सो जाओ समझ लो बत्ती बुझेगी बोले गुरु यह तो बतला आलस के चरखा बंद हो गई है या आबी हो रही है बरखा गुरुजी बाहर से आई है अपनी बिल्ली हाथ फेर कर देखो सूखी है या गिल्ली गिल्ली है तो जानिए चालू है बरसात सूखी है तो बंधक है खत्म हो गई बात खत्म हो गई बात नाती तुझको लज्जा टाल रहा हर काम बंद कर दे दरवाजा दो मैंने कर दिए कार्य अब सोने दीजिए काम तीसरा भगवान आप स्वयं कर लीजिए यह होने वाला है यह स्वाभाविक है जहां प्रार्थना प्रमुख हो जाएगी वहां अंतिम परिणाम आलस से होगा लोग भिकमंगे हो जाएंगे भारत की पूरी मनोदशा भिकमंगे की हो गई जब मांगने से मिल जाए तो करना क्यों मंदिरों में सिर पटको कब्रों पर मनोतियां मनाओ पीरों की प्रार्थना करो और आशा रखो कि सब हो जाएगा जब उसकी मर्जी होगी तब होगा अपने किए तो कुछ होता नहीं उसकी मर्जी के बिना तो पत्ता नहीं हिलता ये प्रार्थना करने वाले लोग समझते रहे समझाते रहे सो ये पत्ता भी नहीं हिलाते ये खुद ही नहीं हिलते इसका स्वाभाविक परिणाम हुआ कि सारा देश गहन आलस्य में तंद्रा में निद्रा में डूब गया इसका परिणाम हुआ गरीबी दरिद्रता दीनता फिर हम गरीबी दरिद्रता और दीनता के लिए नए नए तर्काभास खोजने लगे पहले हमने तर्काभास खोजा कि गरीब वही लोग हैं जिन्होंने पिछले जन्मों में दुष्कर्म किए थे अमीर वे लोग हैं जिन्होंने पिछले जन्मों में पुण्य कर्म किए थे यूं अपने को समझाने लगे शांत बना देने लगे फिर महात्मा गांधी आए और उन्होंने कहा कि गरीब कोई छोटी मोटी बात नहीं तो यह तो दरिद्र नारायण तो दरिद्र नारायण की तो पूजा करनी चाहिए उसके तो पैर धोने चाहिए तो वर्ष में एक दिन महात्मा गांधी किसी दरिद्र के पैर धो देते थे औपचारिक वर्ष में एक दिन जैसे वृक्षारोपण समारोह होता है आज लग जाते हैं वृक्ष कल नदारत हो जाते आज यहां लग जाते हैं वही वृक्ष कल दूसरी जगह वृक्षारोपण उन्हीं का हो जाता तीसरे दिन तीसरी जगह हो जाता वही वृक्ष जगह जगह रोपित होते रहते कहीं वृक्ष उगते दिखाई पड़ते नहीं करोड़ों वृक्षारोपण हो गए इन तीस सालों में पूरा देश हरियाली से भर गया होता हरियाली कहीं दिखाई नहीं पड़ती सब वैसे का वैसा है कहां जाते हैं ये वृक्ष पता नहीं ये वृक्ष भी क्या करे इनको रोपित क्यों नहीं होने दिया जाता आज यहां कल वहां परसों वहां ये तो यात्री करते रहते हैं बेचारे जैसे नेता को रोज रोज उद्घाटन करना पड़ता है वृक्षों को रोज रोज रोपित होना पड़ता है तो एक दिन प्रतीकात्मक रूप से दरिंद नारायण की सेवा कर ली किसी कोढ़ी के पैर दबा दिए फिर हम दरिद्र को इज्जत देना शुरू कर दी हमने कि जिसे दरिद्र होने में बड़ी खूबी है जिसे दरिद्र होने में बड़ी गुणवत्ता है बड़ी महत्ता है पुराना तर्क था लक्ष्मी नारायण का नया तर्क बना दरिद्र नारायण का और मजा ये कि महात्मा गांधी सेठ जमनालाल बजाज के धन से चलते उठते बैठते थे जमनालाल बजाज ने मंदिर बनवाया वर्धा में लक्ष्मी नारायण का मंदिर उस मंदिर का नाम है मैंने जमनालाल के पत्नी जानकी देवी बजाज को पूछा वो मुझे मिलने आई थी वर्धा में मैंने कहा कि गांधी जी के भक्त थे जमनालाल कम से कम इस मंदिर का नाम दरिद्र नारायण का तो रखना था लक्ष्मी नारायण रखा उन्होंने कहा ये कैसे हो सकता हम परम वैष्णव नाम मंदिर का तो लक्ष्मी नारायण ही होगा नाम तो मंदिर का लक्ष्मी नारायण वो पुराना तर्क चलता रहा वो पुरानी सांत्वना थी कि जिसके पास धन है वो प्रभु का प्यारा है सबूत है नहीं तो धन क्यों होगा उसके पास गांधी ने तर्क को बदला लेकिन सांत्वना वही है अब जो दरिद्र है वो प्रभु का प्यारा है दरिद्र इसलिए तो बनाया उसको जरूर दरिद्र उसको ज्यादा प्यारे हैं तभी तो दरिद्र ज्यादा लोग बनाता है और अमीर तो कभी कभी कोई बनाता है इक्के दुक्के यहां वहां जिनको ज्यादा बनाता है साफ है जाहिर है बात तो उसको वे लोग ज्यादा पसंद है जिनको ज्यादा बनाता है नहीं तो क्यों ज्यादा बना है ये सारे तर्काभास आदमी खोजता है मगर इनके भीतर छिपी हुई जड़ को नहीं देखता ये हमारी मांगने की वृत्ति का परिणाम है ये हमारे आलस्य का फल है सारी दुनिया धनी होती चली गई हम गरीब होते चले गए मेरा जोर प्रार्थना पर नहीं है मेरा जोर ध्यान पर है फर्क समझ लेना प्रार्थना कहती है ऐसा कर दो प्रभु ध्यान अपने भीतर खोजता है कि कैसा है और ध्यान ही पाता है कि अंधकार तो है ही नहीं प्रार्थना क्या करनी जाओ भीतर और देखो आलोक ही आलोक है क्या प्रार्थना में समय गंवा रहे हो तमसोमा ज्योतिर्गमे किस तमस से और किस ज्योति की तरफ जाने की बात कर रहे हो